छोड़ दो तो अंधारा बुराई दिखेगा भ्रम दृष्टि छोड़ो नहीं तो अंधारा बुरा दिखने लग जाएगा इसलिए ब्रह्म दृष्टि बनाओ हर वक्त सबको ब्रह्म देखो दूसरा देखोगे तो भय हो जाएगा आप ब्रह्म ही है तो सबको ब्रह्म देखने में क्या घाटा पड़ता है नफा ही है नफा ही नफा घाटा कोई नहीं सब घाटा खत्म हो जाएगा सब ब्रह्म देखने लग जाते नहीं देखते लिए घाटा ही घाटा रहता है दुख ही दुख रहता है वस्तु व्यक्ति सब क्रियाकलाप सब ब्रह्म प्रत्येक क्रिया प्रत्येक पदार्थ प्रत्येक प्राणी व्यवार ब्रम रुप जेके सभु بھی बि सभु बचे बि सभु प्राणी सभु व्यवहार ब्रह्म रुख जेके समाज है वस्तु कारक ब्रह्म कारक मानते हैं प्रतापक ब्रह्म है अलग कोई के नहीं अलग कोई के नहीं रहते और दूसरा अनाचारी भी नहीं रहते हैं पापी हत्यारा भी नहीं रहते हैं होने भी नहीं रहते जिसकी बदलना है किसी नहीं बदली जाती जैसे अनाचार दुराचार सब दिख रहा है सूर्य दृष्टि हो तो सब ब्रह्म दिखे हैं मन होगा सब ब्रह्म दिख रहा अशुद्ध मन से सब दिख रहा है अशुद्ध मन ही जगत है शुद्ध मन ब्रह्म है चाहे जड़ हो चेतन हो तो सामने ब्रह्म रहेगा तो कोई अन्य बुरा नहीं दिखेगा अपने में दुर्गुण भी सब निकल जाएगा हाँ, अपने में भी निकल जाएंगे तो बाहर भी नहीं दिखेगा क्योंकि आप बार बार कहते हैं जो अपने में नहीं वो बाहर नहीं तो तो आगे पीछे दाया बाहर भीतर बाहर सब भ्रम ही है बीच में भी भ्रम ही है हम नहीं मानते इसीलिए दुखी है नहीं मानते इसीलिए वो ब्रह्म दुख दे रहा है नहीं मानोगे तो दुख रहेगा ये मान्यता है ना पदार्थ ऐसा भ्रम ही है ये भ्रम का पसारा है हमारा पसारा हम ही हम उसको बैठे चलो फिर हम बदल गए हमारा उठना बैठना चलना फिरना बोलना गाना सब हम ही है हाँ, अन्य हमारा प्रभाव नहीं है हमारा पढ़ाई तो दुख है हमारा बिगड़ता है तो दुख होता है हमारा कुछ नहीं तो बिगड़ेगा क्या हमारा कुछ है नहीं तो क्या बिगड़ेगा कौन लगेगा बड़ा पाप है अनंत तक ईश्वर अंदर बैठा है इसीलिए कि अपने को जरूर मत समझो तुम सब कुछ करने में समर्थ हो सब कुछ करने में समर्थ दुर्बल समझने से हार मान बैठते हैं अनंत शक्ति अनंत बल अनंत समर्थ हमारे में है हमेशा भावना करो आत्मा सबके अंदर बैठा है तो जरूर कैसे है अपना हजार हमारा विरासी बैठा है अनंत के अनंत सामर्थ वाला इसको ऐसा निश्चय हो क्या कुछ रहेगा अपने का शरीर मानता है इसीलिए भय बना होता है अपना अंदर है तो जलता नहीं है करता नहीं मरता नहीं तलवार काट नहीं सकता वो हमारा स्वरूप है इसको ऐसा ज्ञान है किससे डरेगा उसको मरना ही नहीं तो डरेगा कुछ जो मरने वाला वही डरता रहता है शरीर माने आत्मा तो कभी मरता नहीं शरीर कभी अमर होता नहीं और आत्मा कभी छुटता नहीं वो कभी आवाज नहीं होता सबके साथ रहता है शरीर सदा साथ नहीं रहता शरीर ही सारे विश्व रहा है और शारीरिक आत्मा के क्या दुख हो गए सारे और सब दुखों के है और शरीर निराकार पर किसका कर्मण हो रहा है और कौन कर रहे हैं निराकार एक है आकार अनेक है आकार सब नाशवान है हूँ व्याधि संगात नहीं हूँ हो सर्वशक्तिमान परमात्मा हूँ परमात्मा हमारे से भिन्न नहीं है शरीर हमारे से भिन्न है जो भिन्न उसका अपना मान लिया जो भिन्न परमात्मा सबका है उसका अलग मान लिया जो सर्वशक्तिमान है और अभिन्न परमात्मा है तो किसके बड़ा हाँ। जहाँ मानता है वही भय है न कोई आई न तो किसको कौन माने मान मान कर हम दुखी हो रहे हैं ये आए वो आए बस मान मान कर दुखी हो रहे हैं तब तेरे सिवा कोई है ही नहीं तो मानना जानना पाना सबका खत्म हो गया न कुछ मानना न जानना न पाना रहा कुछ आए नहीं तो क्या किसको पावे किसको जाने जब दूसरा है तब तक पाना है जानना है करना है जब सब तो कुछ आत्मा ही हो गया तो कौन किसको माने जाने तो खराब कहाँ से है खराब अमंगल दुख भय तो चिंता सब खत्म हो गया भला बुरा देखना पाप है ये बात हूँ भला बुरा देखना भला बुरा देखना थोड़ा थोड़ा ब्रह्म दिखने लगे सच्चाई में नहीं ना कोई भला है ना बुरा है सब ब्रह्म है पाप है पुण्य है सब ब्रह्म है तो पाप है ना पुण्य है ना भला है ना बुरा है सब खत्म हो गया ब्रह्म दृष्टि श्रवण रहता तब दिखता है तो ज्ञान होता है सब भ्रांति का ज्ञान अज्ञान का ज्ञान होता है इंद्रिया ज्ञान से बनी है इनके विषय भी अज्ञान है इंद्रियों से जो ज्ञान होता है वह अज्ञान है भ्रांति ज्ञान है इंद्रिया आत्म ज्ञान को नहीं जानती है भ्रांति ज्ञान कोई सत्य नहीं अब भ्रांति ज्ञान संसार है भ्रांति ज्ञान ही संसार है और यथार्थ ज्ञान आत्मा है आत्मा को तो जानते नहीं भ्रांति ज्ञान को सत्य मान लिया दुख भोग रहे हैं कभी बंधन हुआ ही नहीं मेरे में अभी बंधन नहीं होता था पहले भी मुक्त था अभी भी आ, आगे भी मुक्त है बंधन कभी हुआ ही नहीं बंधन जो मान माना जाता है वो कल्पना है जो बंधन सत हो तो कभी मुक्त होगा ही नहीं बंधन अगर सत है तो जीव कभी मुक्त होता ही नहीं और तो बंधन सत नहीं है कल्पना ही है ज्ञान होता तो कोई बंधन नहीं रहता तो सब नहीं है ज्ञान में भी मुक्त नहीं है ज्ञान में तो मुक्त ही है अपने को बंधन मान रखा है शरीर शरीर मान रखा है एक बंधन शरीर नहीं हो तो बंधन है शरीर से ही सारे बंधन में पराधीन है शरीर को सब कुछ चाहिए पराधीन है आत्मा को कुछ चाहिए नहीं तो स्वतंत्र है शरीर कभी स्वतंत्र नहीं होता अपना कभी पराधीन नहीं होता जहाँ कुछ चाह है वही पराधीनता है और जहाँ शरीर अपना तो सचिदानंद है परमानंद है अद्वैत है उसको क्या चाहिए तरह तक सरपंच है जगह जिस दिन बुराई देखना हो उस दिन जगत ब्रह्म रूप दिखने लग जाएगा सब मंगल में दिखने लग जाएगा हमारा बुराई देखना ही संसार है बुराई देखना बंद करो तो ब्रह्म रूप है हमारा देखना छोड़ दो जब सब कुछ ब्रह्म है तो बुरा भरा कहाँ है और पापन कहाँ है हमारा कॉन्ट्रेक्टर अगर सब दृष्टि आएगा नहीं कुछ न कुछ बुराई लगी रहती है भैया है ना हाँ। न शुभ अशुभ दोनों में कुछ न कुछ बुराई रहता ही है क्रिया में रहता ही है चिड़िया में थकावट होती है हाँ। और क्रिया ही पापन होते हैं ताईं सुबुह सभु निखारे सुबुह न मिले निखारिश साल बि न मिले गुड़ दोस्त सभिनी में संसार बना है त गुण विश्व तीन चार साल गुण दोष मिल करे संसार बनागो सभी में मिलेंगे एक किसी में गुण दोष कम है इसमें बहुत ज्यादा है गुण कम है क्योंकि एक ही वस्तु से संसार ही नहीं बन सकता खाली स्वीकार न करो ऐसा माया का देखना सुनना पे देखना सुनना जानना माया है और देखना सुनना जानना छोड़ दो तो ब्रह्म है देखना सुनना जानना छोड़ो तो ब्रह्म है ब्रह्म किसको देखे किसको सुने किसको जाने उसके सिवा तो कुछ है नहीं देखना सुनना तो जाना माया में होता है ब्रह्म में नहीं हम सो जाते हैं तो न देखना रहता है न सोना देखना न पाना न जानना है और वह अज्ञान है न अज्ञान भी नहीं है न तो देखना सुनना जानना पाना कुछ नहीं ऐसा द्वैत नहीं होता है तो सुसुप्ति में अद्वैत है न देखना है ना सुनना है ना कुछ जानना है ना कुछ पाना है शांति है देखना सुनना जाना पाना संसार है माया में देखना ब्रह्म में देखना सुनना नहीं है और इंद्रिया नहीं है मन नहीं है बुद्धि नहीं है कौन देखे कौन सुने कौन जाने जहाँ नहीं है वहाँ ब्रह्म है उसे तो सब निकला है उसे में तो समा जाएंगे और कहा जाएंगे बस आप में लॉलिन हो अपने से निकला आपने मिलिन करो सकता है तब तक के सब अंधेरा ही है तो सूरज अंधेरे में दिख रहा है अज्ञान के अंधेरे में संसार दिखता है अज्ञान के उजाला में ब्रह्म दिखे मैंने वो जो क्या क्या सूरज निकल रहे हैं सब अंधेरे में दिख रहे हैं ज्ञान के प्रकाश हो तो सब ब्रह्म दिख रहे हैं अज्ञान के अज्ञान ही जगत है अज्ञानी ज्ञानी ब्रह्म है ज्ञान के प्रकाश और प्रसाद ब्रह्म दिखे सब मंगलमय दिखे सब शुभ दिखे सब जगत अंधेरे प्रकाश में अंधेरा भी समा जाता है तो अंधेरा कहाँ जाता है कहीं नहीं रहता उसी में पलट अंधेरा प्रकाश में कहाँ जाता है आप जितना शक्ति है सब लगा दो यानी कि वो भी काम करे भी काम दोनों साथ साथ नहीं चलता शक्ति एक तरफ सब लगा दो एक ही लक्ष्य रहे और कोई लक्ष्य ना रहे लक्ष्य पूरा नहीं होता कि कई कई लक्ष्य बना रखे हैं ना बीस हजार और मकान भी हो जाए दुकान भी हो जाए और परमात्मा भी मिल जाए एक लक्ष्य नहीं है ना आत्मा को चाहे तो सब लक्ष्य मिटा दो एक ही लक्ष्य है परमात्मा कैसे मिले और इच्छाएं रुकावट है परमात्मा तो परमात्मा के भी छाना रहे किसी की छाना तो परमात्मा ही है जहाँ तक कोई इच्छा है तो परमात्मा से अलग इच्छा होती है परमात्मा में इच्छा नहीं है सब इच्छाएं शांत है सब इच्छाएं शांत है वही परमात्मा है हमने हमने हम हो जाएगा शक्ति नाम परमात्मा हो जाएगा वो शक्ति बता हुआ इसी व्यक्ति है सब शक्ति एक में आ जाओ तो परमात्मा ही है सर्व शक्तिमान सर्व शक्तिमान परमात्मा सब शक्तियाँ बची हुई है ना एकत्र कर दो तो सर्व शक्तिमान परमात्मा ही है शक्तियाँ बिखरी हुई है इसीलिए नाना कमजोरियां नहीं होता है आप शक्तियां एकत्र हो जा अनंत सामर्थ्य बल आ जाएगा अनंत शक्ति आ जाएगी शक्तियां बिखरी हुई है कितने चीज चाहिए बिखरी हुई है पिछले का एक बिखरियों के निरोध मन के एकाग्र करो एकाग्र मन में अनंत शक्ति अनंत सामर्थ्य आ जाता है सर्वशक्ति समान हो जाता है मन नहीं समझ सकती सब शक्तियाँ एकत्र हो गई ना फिर जो चाहे अनंत शक्ति अनंत सामर्थ आ जाएगा उसमें अनंत भाव जो चाह कर सकता है बिक्री भी शक्तियाँ से हम जो चाहते हैं वो नहीं होता शक्ति बिक्री हुई है ना इसलिए कहा कि मन को एकाग्र करो एकाग्र मन से परमात्मा का दर्शन होता है अनेकमार दर्शन कराता अनेकागमन जा संसार एकागम परमात्मा ई कर्व कर्तव ब्रह्म है कर्तव्य न स्वभाव मेरा स्वभाव है स्वभाव बंधन न आदत आहे आदत बदिला स्वभाव बदिल आदत बदल आदत पई ऐं बदला चदल जाता पर किथे न बद और किसी का स्वभाव बदलना और कभी निष्क्रिय नहीं होती अपना कभी बदलता नहीं परिवर्तन नहीं होता तमोगुण को रजोगुण से जीते हैं रजोगुण को सत्वगुण से जीते हैं और सत्वगुण से सूर्य सत्वगुण कैसे गुण से कला आ गुण बदलते रहते हैं तो ब्रह्म है तो पापी कहाँ है किसी को कहा ना ब्रह्म कोई पापी का पापी का होगा तो दुख मिलेगा ही होगा पाप के फल दुख होता ही है जब सब ब्रह्म है तो पापी या पुण्यात्मा कहाँ है भेद बुद्धि त्याग दो भेद बुद्धि संसार है अभेद संपरम है हमारा तो सेट पहले कोई नहीं था अभी भी कोई नहीं आगे भी कोई नहीं होगा तो अपने तो निकृष्ट मान लिया बस एक दुख है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पश्चा करके बस है भूल प्रवृत्ति में तुम्हारा तो श्रेष्ठ ईश्वर कोई नहीं था अभी भी कोई नहीं आगे भी कोई नहीं ये जगह तो सब तरीका अपनाए है तो सब तो श्रेष्ठ है और ये है मैंने अपनी चाह की पूर्ति के लिए करी है क्या है कल्पना ही दुख है ये संकल्प होना ब्रह्म होना है संसार है संसार कल्पना मात्र है हम ये संकल्प हो जाना ब्रह्म होना है दुख भोगने और हर कल्पना के तो कैसा मैं हूँ ऐसा जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक मुक्त भी नहीं होगा देवों का देव महादेव मैं हूँ ईश्वरों का ईश्वर हूँ कालों का काल हूँ सबका ईश्वर मैं हूँ मेरा ईश्वर कोई नहीं है अपने से ऊपर कोई है तो उसका भय बना रहेगा सबका ईश्वर मैं हूँ मेरा ईश्वर कोई नहीं है फिर हमें अवस्था सदा कर लिया कोई खटका रहेगा नहीं वो बड़ा है और छोटा है खटका बना रहता है दूसरा मानने पर तो अब बड़े तो भय लगा रहेगा बड़े क्या क्या करो तो दंड भी देगा उसका बड़ा पाना छोटा पाना नहीं है और दिखता है तो अपने को बड़ा ही समझो छोटा नहीं समझो वास्तव में तो एक आत्मा ही है बाकी न बड़ा है न छोटा है जाते हैं तो न कोई बड़ा होता है न छोटा होता है एक ही शांत होता है कोई भय नहीं होता अभय अवस्था आ जाएगी फिर फिर के फिर मृत्यु का भी डर नहीं लगेगा हाथ से डरते हैं ना मृत्यु से काल का भी काल हो जाता है काल से डरता है हम काल से डरते हैं उसका काल भी हमसे डरने लगे मौत भी डरेगी भाई को भय हो जाएगा और ऐसा हाँ मौत से डर नहीं करती मौत भी से डरती है डे के से डे साम्हूं देवता बैंक डेरो सां डिसो डायां बुधी बुची करी सूरज चंद्रमा परमात्मा में डे थी मकोड़ो सां डे लॻे ये माया है और समय कार्य करते हैं बोलेंगे जहाँ तक वाणी की गति वहीं तक जाएगा ना हम्म। जो चुपचाप एकांत में भजन करते हैं हम्म। वो ब्रह्म लोक तक उनकी गति है ब्रह्म लोक तक जीवों का कल्याण करता है वाणी से तो उतना ही कल्याण होगा जहाँ तक वाणी की गति है और मन के गति कितना ब्रह्म लोग तक है ना वहां तक जीवों को कल्याण करती है जब होता है मैंने कोई भी जीव जाने जहाँ कोई नहीं है हम्म। उसका चिंतन से जितने जीव रहा पढ़ेंगे रास्ते में ब्रह्म लोग तक है सब तक कल्याण हाँ, तो चिंतन के द्वारा जितना मन की गति है हाँ। मन ब्रह्म लोग तक जाता है हमारी अच्छा। तक दो फरलांग जाएंगे ज्यादा से ज्यादा होता जाएंगे और वैसे आकाश तक पाँच भूत तक मर्यादा आवाज आता है आगे तो नहीं जाएगा वहाँ का जीव किसों में करता है तो कल्याण करता है और मान के गति ब्रह्म लोग तक जाता है तो सब बोलने से किसी की अपने दुख होता तो उसकी परवाह न करो और की हत्या न करो व्यक्ति की हत्या तो हो जाएगी हत्या नहीं तो। नहीं है आपके सत्य बोलने से और सबकी हत्या न हो और ऐसा भी कहते हैं कसाई कसाई उसको ढूंढ रहा है पूछा हाँ। पूछ रहा है बताते हैं तो लोग हत्या होते तो पाप लगेगा बताने वाले को कहानी नहीं बताओ तो झूठ बोलता है मौन मौन भी सुकृत्य तो तो का वचन है और वहाँ झूठ बोलना पाप नहीं है झूठ अपने स्वार्थ के लिए बोला जाता है वो पाप है और इसके लिए बोला जाता पाप नहीं है चुराला जैसे सारा साल झूठ बोल रहे थे सिकंदर का जला जता में भी तो पाप नहीं है और एक के लिए जिससे हित होता है उसमें झूठ झूठ नहीं होता हित की बात कह रहे हैं ना झूठ बोलने से किसी का हित होता है तो झूठ नहीं हो तो ऐसे ही हित के लिए अपने मेल वालों दिन करो और चिंता है सब छोड़ दो और सब चिंता छोड़ के रात दिन ईश्वर का चिंतन करो ईश्वर बनना है जानना है तुम हाँ। वास्तव में ईश्वर का भी चिंतन छोड़ दो हम्म। ईश्वर चिंतन का विषय नहीं हाँ, है और चिंता रहित है निश्चिंत है हाँ। निश्चिंत हो जाना निश्चिंत नहीं हो जाता तो ईश्वर का ही चिंतन करो संसार का चिंतन न करो संसार का चिंतन दुख दुख है ऐसा चिंतन सुख रूप है और चिंतन और चिंता से रह जाना हो जाना और पर ब्रह्म तारीख इकतीस तीन निव्यासी एक में आत्मा ही गुरु है वही रह जाता है आत्मा ही गुरु है आत्मा के घर में से व्यतीत कर गुरु शाश्वत आप और आत्मा है और कौन सा सच आत्मा ही है बाकी सब रास्ते बदलने वाले हैं और कोई नहीं है आत्मा ही सत्य है और कोई सत्य नहीं है आत्मा गुरु है बाहर के गुरु घरे ले जाते हैं जगड़ते हैं अंतर मिल जाता बाहर के जरूरत नहीं मैं तो कर दो डरो नहीं साथ कहने में डरते हैं साथ बोलने से किसी के दुख होता है तो होने दो तो सबके नाश सबके अच्छा है किसी व्यक्ति का नाश होता तो हो जाएंगे सबका नाश नहीं होना चाहिए अन्य ईश्वर की उपासना करना चाहिए ईश्वर की चिंता करना चाहिए और किसी की चिंता नहीं करना चाहिए ईश्वर ही चिंता करो सब तो विनाशी से चिंता से काम मिलेगा विनाश के तरफ ले जाएंगे और विनाशी के करो तब तो इससे से छुटकारा हो जाए मृत्यु से विनाशी के चिंतन करते हैं इसलिए विनाश को प्राप्त होते रहते हैं चिंतन करते वही हो जाता है हाँ। तो विनाश के चिंतन करो तो विनाश को प्राप्त हो गया अविनाशी की करो तो।, तो गुरुदेव हाँ, हाँ। सभी के है उसको निकलना है कि नहीं नहीं आप माएंगे तो उपासना कौन करेगा हम <laughs> तो आत्मा जान लो तो अपना तो। उपासन मान नहीं हो एकदम उसका चिंता ध्यान करना पड़ता है ईश्वर हाँ। की करो उसको भी प्यार करो दुख तो तभी प्यार करता है सुख कभी क्या कर सुख रहेगा तो स्वर्ग में जाना पड़ेगा और दुख रहेगा तो नरक में जाना पड़ेगा तो दोनों को त्याग दो तो जाना आना छूट जाएगा कहीं आना जाना नहीं है तो अविनाशी दो की प्राप्ति हो जाएगी लॻाईंदो तव्हां चवंदो त कुझु करणा न करे